अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः इसके भाष्य अनुपश्य का था आलोचय निबालय तो विचार कीजिए चिंतन कीजिए निभालय तो निशेषण चिंतन करना अनुपश्य अनुक्रम क्रमेण देखो अनुगात क्रमेण यथा येन प्रकारेण अनुपस्य यथा पूर्वे अनुकात क्रमेण क्रम से विचार करो यथा येन प्रकारेण जैसे हुआ है वृत्ता पूर्वे पूर्वे का अतिक्रांता पितृ पितामहादय तब आपके पिता पितामहादि उनका जैसे पहले हुआ था वो जैसे थे उनको विचार करो वो कैसे थे तान दृष्टा च उनको देख करके तेषाम वृत्तम आस्था तुमरसी उनका जैसे वृत्तम वर्तनम सत्यवचनादि आदि उसको आस्था तुम प्राप्त करना चाहिए ऐसे ही उनका जो था आचरण ऐसे आचरण आप भी करें सत्यवचनादि आदि उसको प्राप्तुम आस्थातुम प्राप्तुम रसि प्राप्त करना चाहिए ऐसे ही आचरण आपके में होना चाहिए अनुपस्य यथा पूर्वे यथा अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे वर्तमान से अपरे साधव यथा वर्तन्ते तांश प्रतिपस्य अभी वर्तमान जो है साधु सद्मार्ग में चलने वाले जिस प्रकार होते उनको भी देखो प्रतिपस्य आलोचय इसी प्रकार विचार कीजिए विचार करने से क्या निश्चय होता है न च तेषु मिसाकरणम वृत्तम वर्तमान वास्ति ऐसे पहले जो पिता पितामह हो गए अभी जो सदाचारी साधु है उनमें मृषाकरणम वृत्तम वर्तमान वा नास्ति मिथ्या करना मिथ्या गलत मार्ग में चलना न तो पहले हुआ था भूतम वृत्तम अतीतम वर्तमान भी नहीं वर्तमान जो सन्मार्ग में चलने वाले ऐसे गलत मिथ्या कर नहीं करते हैं और उनसे विपरीत है तद विपरीतम असताम च वृत्तम मृषाकरणम जो असाधु ही असन्मार्ग असन्मार्ग में चलने वाले सन्मार्ग में नहीं चलते असत तद विपरीतम असताम च वृत्तम असत का जो आचरण है ये विपरीत है साधुओं के आचरण से विपरीत है क्या विपरीत है मिशाकरणम गलत झूठ मिथ्या बोलना और गलत कुछ ना कुछ बोल दिया कुछ नहीं कर गया मन में कुछ शब्द में कुछ कार्य में कुछ असन का होता है तो भी मिथ्या बोल करके यदि कोई अजर अमर हो जाए तो बड़े अच्छा है थोड़े झूठे बोल दे कोई बात नहीं नाच मिश्रा कृत्वा कश्चित अजरामरो भवति मिथ्या शब्द बोले निषिद्ध कर्म करे कुछ भी करके कभी कोई अजरामर नहीं होता है तो फिर क्यों मिथ्या भाषण करना पाप क्यों करना करके यदि कोई अजरामर हो जाए ऐसा तो कभी नहीं हुआ यथ सस्यमेव मर्त्यो मनुष्य पच्यते जीर्ण मृयते जैसे सस्य अनाज है गेहूं मूंग धान आदि सो होते फिर पक जाते हैं नष्ट हो जाते मृत्यु इस प्रकार मनुष्य भी सस्य के समान पच्यते पच्यति का अर्थ पक जाता है जीर्ण मृयते जीर्ण होकर के मर जाता है वृद्धावस्था पर जीर्ण होकर मर जाता है कोई युवावस्था में भी जीर्ण हो जाता है बूढ़ा नहीं होता है किंतु शरीर ऐसे असमर्थ होता है रोग आदि के कारण समाप्त हो जाता है मृत्वा च सस्यमेव आजायते आविर्भवति पुनः मरने के बाद समाप्त हो गया नाटक ऐसा नहीं मर गया तो फिर कहीं कहीं चक्कर लगाएगा नरक आदि विभिन्न योनि में फिर आएगा यहाँ भी आएगा विभिन्न योनि में तो ही आएगा नरक में रहे तो अलग नहीं तो फिर आ जाएगा फिर मरेगा फिर जन्म फिर मरना सस्य में आ तो आसमंत आ तो फिर उत्पन्न हो जाएगा आविर्भति फिर प्रकट हो जाएगा पुनर् एवं इसी फिर आ जाएगा फिर कुछ वो करेगा एवं अनित्य जीवलोक के किम मिशा करने ना ये अनित्य जीवलोक प्राप्त किया इसमें मिथ्या करके क्या लाभ है मिथ्या भाषण करे गलत मार्ग में चल कर लाभ क्या है हानि है बहुत नीच गति होती है इसलिए क्यों सत्य मार्ग में चलना चाहिए जितने हो सकता है जितने संभव है समय मिला जो समय सामने है सन्मार्ग में चलना चाहिए असन्मार्ग में क्यों चलना है तो इसमें कुछ आपत्ति नहीं है तद तो मानना ही है सबको पाले न सत्यम मिसल अपने सत्य का पालन कीजिए रक्षा कीजिए जैसे कहा है ऐसे ही करना चाहिए प्रेषयमाम यमाए तो अभिप्राय ये कहने का अभिप्राय क्या है ऐसे विचार कीजिए जैसे सस्य से जन्म मरण को प्राप्त करता मनुष्य ये कहने का अभिप्राय अभी पुत्र मर जाएगा जमलोजी में चला जाए तो क्या हो गया सत्य वचन पालन करना चाहिए सत्य वचन पालन करना इतने श्रेष्ठ है अन्य साधन से बढ़ करके तो प्रेस है माम जमाय ये कहने का अभिप्राय मुझे मुख से निकला है मृत्यवे तो हम ददामी तो यम यम के लिए मुझे भेज दीजिए क्या है क्या क्या तथा तथापि तथापि कहाँ छः के भाषण में पूर्व पंक्ति क्या नहीं तथापि कहाँ है कहाँ इसमें नहीं था अच्छा नवम पंक्ति तथापि तत्पितुर्वच मृषा महाभूति तेव मत्वा परिदेवना पूर्वकम आपितरम संस्कृत हाँ वो कई नम प्रयोजन अवश्य हृदय सतुत्वन पिता तो ये भी ये भी उसमें आ जाना चाहिए <laughs> क्या तो करते हो नूनम हो गया यथावसर नूनम इसमें पांच में आ गया तथा भी तत्पितुर्वच मृषा महाभूति तेवम मत्वा इसमें तो पंचम इसका अर्थ पहले बता दिया था ना नहीं हाँ वो तो ये इसमें पंचम यही समाप्त किया पितरम शोकाविष्टम किम अयुक्तम इति इति पितरम फिर आकर के आह आह कह करके आगे हेतु अनुपतरण क्या देखेंगे अन्य पुस्तक में इसमें तो पंचम यहाँ समाप्त हुआ अवतरण क्या नहीं रखा है ऐसे किया है ठीक है मैं श्रुत्यनुक्त पूर्व भाषणादिकमपि कथायाम अपेक्षितं पूरयति श्रुति में तो ऐसे नहीं कहा नहीं करने पर भी ऐसे पूर्व भाषण आदि कथा में अपेक्षित जो अपेक्षित है उसका पूर्ण करते भगवान भाष्यकार स एव मुक्त पिता आत्मन सत्यताई प्रेषयामास ये श्रुति में तो नहीं कहा गया ये तो नचिकेता का वचन हो गया आगे वचन आ गया यमराज की पत्नी मंत्री आदि यमराज से कहते हैं तो बीच में ही वो चला गया और अब पिताजी ने अनुमति दिया अर्थात भेज दिया जाओ करके तो ये श्रुति में नहीं कहा गया पूर्व भाषण भाषणाधिकम उनका पिता ने कहा फिर नचिकेता वो गया ये सब जैसे नचिकेता ने कहने के बाद कथा में अपेक्षित कहते भगवान भाष्यकार स एवं मुक्त स पिता एवं मुक्त नचिकेता के द्वारा कहा गया पिता आत्मन सत्यता ही प्रसयमास अपने सत्यता के लिए यमराज के पास पुत्र को भेज दिया सचयम भवनम गत्वा तीसरो रात्रि रुवास यमे प्रोसिते यमराज कहीं बाहर गए थे ब्रह्म भवन ब्रह्म के पास गए ब्रह्मा जी के पास गए थे उस कार्यवश वो अधिकारी पुरुष है तो तीन रात विवास किया यम भवन को जाकर तीन रात रहा यमे प्रोसिते प्रोस्य आगतम प्रवास करके जब आए यमराज यमम अमात्या वा उशुर पत्नी अमात्य पत्नी आदि भार्या और मंत्री आदि कहा उन्होंने कहा बोधयंतो उनको बताते हुए कहा वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् शांति शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवसतोदकम् अतिथिर ब्राह्मणो अतिथिर गृहान वैश्वान प्रविशति वैश्वानर इव ब्राह्मण अतिथि घर में प्रवेश करते हो तो वैश्वान अग्नि है अग्नि घर में प्रवेश अग्नि आसन पर से भस्म कर देती है इसी प्रकार ब्राह्मणो अतिथि गृहान वैश्वानर प्रविशति वैश्वान के समान अग्नि के समान तस्यताम शांतिम करवंती तस्य जो अग्नि है ब्राह्मण अतिथि उनके इस प्रकार ऐसा यथा से तथा इस प्रकार शांति करते हैं हे वैवसत उदकम हर उनके पाद प्रक्षालन आदि करने के लिए जल लेकर के जा के उनका उनको शांति कराओ शैव मुक्त पिता यम आमतय भारे उचि बोधयंत बताए वैश्वानर रेव साक्षात प्रविशति वैश्वानर अग्नि अग्नि साक्षात अग्नि प्रविश होती अतिथि सन ब्राह्मण अतिथि रूप से ब्राह्मण जब घर में आते हैं घर में प्रवेश करते मतलब गृहान दहनिव ऐसे अग्नि आते हैं मतलब ग्रह को दहन करते जैसे इसका पूरा समाप्त कर देंगे तस्य दाहम समयंत इव अग्नि अग्नि के जो दाह को समान समन करते हुए जैसे एताम शांतिम कुर्वन्ति इस प्रकार शांति करते हैं एताम कह करके पाद्य आसन आदि दान लक्षणम इस प्रकार पाद के लिए पाद प्रचालन के लिए पाद्य पाद के लिए तो जल आसन आदि से जो प्रेम से भाषण भोजन आदि जो जैसे आवश्यक उनका उनको सेवा आदि करे आदि दान लक्षणम शांतिम कुर्वन्ति संत कर कुर्वन्ति करते हैं कौन करते संत सन्मार्ग में तो सत्पुरुष इसे करते हैं जो महाजन ये न गतस्य पंथा का संत महापुरुष इसे करते हैं अर्थात आपको भी इसे करना चाहिए अतिथेर यथो अतिथि कैसे करते हैं शांति करते अथो अतो हर वैवस्वत उदकम हर का था आहार लीजिए हे वैवस्वत उदकम जल लेकर जाइए नचिकेत से पाद्यार्थम नचिकेत के पाद प्रक्षालन के लिए पाद्य के लिए जल लेकर जाइए यतश्च अकरणे प्रत्यवाय श्रुयते क्योंकि नहीं करने पर प्रत्यवाय श्रुति में कहा गया यस्याग्निहोत्रम मदर्शम अपन्नमासम अचातुर्म मास्यम अनाग्रहणम अतिथिवर्जितम च अहुतम अवैश्वदेवम अभिधिनाहुतम आ सप्तमांस्तस लोकान हिनस्ति ये मुंडक उपनिषद में आएगा उसमें आया अतिथि अतिथि का सत्कार जो अग्निहोत्र करता है अग्निहोत्री ब्राह्मण आदि अग्निहोत्र करते हैं त्रैवर्णिक यज्ञोपित संस्कार होता है और पत्नी दारा ग्रहण करने के बाद जात पुत्र कृष्ण के अग्नि में आदधित तो अग्नि आधान करके अग्निहोत्र कर्म करते सायं प्रातः उसके साथ साथ दर्श पूर्णमास कर्म भी नित्य करना चाहिए चातुर्मास कर्म एक दर्श पूर्णमास से स्वर्ग प्राप्ति का साधन काम्य और एक दर्श पूर्णमास से मासम अग्निहोत्र नहीं दर्श पूर्णमास एक नित्य कर्म है चातुर्मास कर्म है अनाग्रहणम मार्ग से आदि मास में क्या जाते कर्म ये भी करना चाहिए अतिथि सत्कार भी करना चाहिए अग्निहोत्र करता है करके अतिथि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए हवन करना चाहिए समय पर वैष्णव कर्म करना है अरे देना हो तुम तो विधि पूर्वक अभिधि से करेगा तो क्या होगा आ सप्तमान तस्य लोकानि नती सात पीड़ित को लोग नष्ट करता है इसलिए अतिथि सत्कार करना चाहिए नहीं तो प्रत्यवा श्रुति में कहा गया ऐसे कहने के बाद यमराज उसके पास कर कहते हैं आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश सर्वान् एतद् अल्पमेधसो यस्यानन्नस्नन वसति ब्राह्मणो गृहे आशा च प्रतीक्षा च आशा प्रतीक्षे आशा और प्रतीक्षा आशा है जिसको नहीं जानते हैं ऐसे उसकी इच्छा से प्राप्त वस्तु की इच्छा करते तो आशा करते हैं प्रतीक्षा है अपेक्षा करना प्रतीक्षा करना प्रतीक्षा करना है जो ज्ञात वस्तु है उसके प्रति इच्छा पर कभी मिलेगा असंगतम संगते सत्संग संयोग जन्य फल और वो अभी व्याख्यान करेंगे योग ज फल भी कहा गया सुनृताम शोभन वाक प्रिय वाणी तन निमित्त जो पुण्य कर्म च इष्टापूर्ते इष्ट कर्म पूर्त कर्म है तत्फल पुत्र पशुंश पुत्र पशु सर्वान एतद् भृंगते ये सब को ऐसे ब्राह्मण जो जिसके घर में भोजन नहीं कर रहते ये सब को वर्जित नष्ट कर देता है किसका पुरुष से अल्पमेधस जिसके पुरुष के घर में ब्राह्मण भोजन नहीं कर रहे ये सब समाप्त कर देता है ऐसे पुरुष को तो अल्पमेधा अल्प बुद्धि वाले कोई अतिथि का सत्कार नहीं करे तो अल्प बुद्धि वाला है पुरुष पुरुषस्य एतद् वृंते वृत्ते का करता है ब्राह्मण यस्य अनशन वसति ब्राह्मण गृह जिसके घर में यस्य गृह ब्राह्मण अनशन अनशन वसति जिसके घर में ब्राह्मण भोजन नहीं कर रह जाता है ये सब को वृंगते वर्जयते समाप्त कर देता है कुछ आशा करता है प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करता है सत संगत जन्य पर शोभन प्रिय वाणी निमित्त इष्टपूर्त कर्मजन्य पर पुत्र पशु आदि सबको समाप्त कर देता है ब्राह्मण अतिथि भोजन नहीं कर रहे तो आस भाष्य में आशा प्रतीक्षे <clears throat> अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्ट प्रार्थना आशा जो अनिर्ज्ञात तो ज्ञात नहीं प्राप्य प्राप्त योग्य प्राप्त करने योग्य इष्ट अर्थ की प्रार्थना विचार करता है कि सुवर्णगिरी का चले या आ जाए तो बड़ा अच्छा है अर्थ है प्रार्थना आशा है और जान करके यही जानता है सुना है शास्त्र में कनक गिरी सुवर्ण सोना चले और निर्ज्ञात निर्ज्ञात तो अत्यंत रूप से ज्ञात नहीं अनिर्ज्ञात शास्त्र सुना किंतु विश्वास नहीं होता है देखा नहीं तो दाजय में तो में अच्छा है निर्ज्ञात जो प्राप्य प्रत्यक्षादि से ज्ञात निर्ज्ञात राज्य आदि उस पर प्रतिक्षण उसकी प्राप्ति की इच्छा है इच्छा प्रतीक्षा है ते आशा प्रतीक्षे संगतम का क्या सत्संयोजम फलम सत संयोगज फल दो नंबर टिप्पणी में दिया है अत्र योगजम इतेव पाठो गोपाल टीका अनुसार तो अवगंतव्यम एक एक गोपाल जतीन्द्र की टीका है उसमें भाष्य और भाष्य की टीका है उस टीका में यहाँ योगजम ऐसा पाठ है योगजम तो योगज कहन से संगत का तो योगजम योगज कहन से देवता ध्यान आदि देवता का ध्यान योग है तजन्य फल ऐसे अर्थ है गोपाल यतीन्द्र टीका के अनुसार टिप्पणी है नहीं गोपाल हाँ।, हाँ गोपाल यतीन्द्र देवता ध्यान आदि जन्य फल तो योगजम कहेंगे तो योगजन्य फल देवता ध्यान उपासना जन्य फल ऐसा ही कहा गया टीका में यहाँ तो आनंद की टीका नहीं भाष्य में जो सत्संयोजम वो भाष्य में पाठ भेद है गोपालतेंद्र टीका के अनुसार योगजम पाठ है और सत्संयोग जो कहें तो यथार्थ सत्संयोजन्य फल सत्संग सद महापुरुष संग का भी पुण्य फल होता है तजन्य फल सुनृताम च इसका भी फल है सुनृता है प्रिया वाणी प्रियवाणी प्रियवाणी का भी फल है इस प्रकार अप्रिय वाणी का भी पाप फल है वचने का दारिद्रता किसको धन देने के लिए कुछ देना पड़े तो दरिद्रता दारिद्रता दरिद्रता वचने का दरिद्रता अभाव है धन नहीं दे सकता है अपने पास नहीं तो कैसे देगा किंतु वचने का दरिद्रता वचन में क्या अभाव है गरीब हो धनी हो प्रेम से बोलना ये प्रिय वाणी प्रिय वाणी बोलने का अभ्यास करना किसी को शब्द से कष्ट नहीं दे शब्द से कष्ट देना को कहते अशस्त्र हिंसा एक तो शस्त्र से हिंसा होती एक शस्त्र के बिना हिंसा शस्त्र हिंसा तो शस्त्र से कुछ कट गया हाथ पैर कट जाता ठीक हो जाता है वाणी से कष्ट दे तो जीवन भर नहीं भूलता है इसलिए ये नहीं करना चाहिए शोभन वाणी प्रिय वाणी सुनता वाक्त तनिमितम जो फल है इष्टापूर्ते इष्टम च पूर्तम च इष्टापूर्ते इष्टम याग आदि जप फल इष्टजन्य फल पूर्तम आराम आदि क्रियाजन्य फल यहाँ इष्टपूर्त तो कर्म है यहाँ कर्म के फल लेना क्योंकि वो वर्जयति कर्म को नष्ट नहीं करता कर्म इष्टापूर्त आदि कर्मजन्य जो फल अदृष्ट फल आदि सब को नष्ट कर देता है इष्ट कहा अग्निहोत्रम तपसत्यम वेदानाम चानुपालनम आतिथ्यम वैश्व देवस्य इष्टमित अविदीयते इष्टमे भी अतिथि सत्कार आ गया अग्निहोत्र तपः सत्यम भी आ गया वेदानां च अनुपालन वेद का अध्ययन करना उसके अनुसार चलना आतिथ्यम देव कर्म इष्ट इसे कहा जाता है और पूर्त होता है वापी कूप तड़ाग आदि देवता यतनानि च अन्न प्रदान आराम पुरतमित अविधीयते वापी बावड़े कूप तड़ाग आदि बनाते हैं रास्ता में लोग जाएंगे पानी पीने के लिए गाँव पानी जल का अभाव है जल दान के लिए अभी भी करते हैं वापी का आदि देवता आयतना नीचे देवता का आयतन मंदिर ये निर्माण करते हैं अन्न प्रदानम अन्न प्रदान और आराम कहीं आरामण करने के लिए पुष्प वाटिका आदि स्थान रास्ता में जाते हैं कहीं आराम करने के लिए कुछ थोड़ा स्थान बनाते हैं जल पास में हो थोड़े रहने के लिए रास्ते मार्ग में अभी जो दूर दूर तक चलते हैं जहाँ रास्ता नहीं है ऐसा है पहले चल कर जाते थे अभी भी चार धाम यात्रा चल कर जाते हैं तो कहीं कहीं रुकना पड़ता है नर्मदा परिक्रमा करते हैं बीच बीच में रुकने के लिए सतपुरुष लोग सब साधु लोग बनाते हैं ऐसे स्थान में कहीं रहे अन्न भोजन मिले आराम करेंगे ये भी पूर्त कर्म आया पूर्तमिति अभिद्यते और एक दत्तय शरणागत संत्राणम भूतानां चाप्यहिंसनम बहिर्वेदी च दानम दत्तमिति अभिद्यते शरणागत में कोई आया तो उसके सम्यक त्राण रक्षा करना भूतों का अहिंसनम हिंसा नहीं किसी प्रकार शरीर से वाणी से मन से दान है एक दान होता है कर्म का अंग कर्म करते समय जिस कर्म के लिए जो विधान किया गया दान करना है वो कर्मांग दान हुआ और एक दूसरा दान है बहिर्वेदी चय दानम वेदी के बाहर का अर्थ कर्म के अंग नहीं ऐसा जो दान इसको दत्त कहते हैं कर्म के अंग भूत दान करेंगे तो कर्मांग कर्म की पूर्ति होती है कर्म का फल जो प्राप्त होगा कर्म के अंग दान नहीं करेंगे तो कर्म अपूर्त हुआ संपूर्ण हुआ असंपूर्ण होने से कर्म से फल नहीं मिलेगा किंतु दान का कोई अलग फल नहीं कर्म करते समय दान करे कर्मजन्य फल मिल जाएगा अलग फल नहीं है ये जो दान है बहिर्वेदीय दान वेदी के बाहर कर्म के अंग नहीं हो ये दान को दत्त शब्द से कहते हैं दत्तमित तो अभिधीयते तो ये कर्मजन्य जो फल है इष्ट यागादि कर्म फल पूर्तम में आरमादिक याज फल पुत्र पशुंच पुत्रांश पशुंश पुत्र और पशु धन सर्वानेतात सर्वम यथोतम बृंगते ये सब बृंगते का तो आवर्जयति ब्रिजी वर्जने आवर्जयति का विनाशयति ब्राह्मण बिना भोजन किसके घर में अतिथि को रहेगा ये सब को समाप्त कर दे नष्ट कर देता है पुरुष से अल्प में दसो अल्प प्रज्ञा से अल्प बुद्धि वाले ऐसे उपेक्षा कोई करने वाला अल्प बुद्धि वाले कोई आने पर अतिथि उसका सत्कार करना चाहिए यस्य अनशन अभुंजान ब्राह्मणो गृह वसति नहीं भोजन कर घर में रह जाए तो तस्मात् अनुपेक्षणीय सर्वावस्थासु अपि अतितिरित्यर्थ ये अभिप्राय सर्वावस्थासु जिस अवस्था में हो अपने जैसी अवस्था हो तो भी अतिथि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए अनुपेक्षणीय सर्वावस्थासु अपि अतिथि ये ये कहते हैं यमराज स्वयं अथा श्रुति का वाक्य हो तो आगे यमराज जा करके नहीं ये तो मंत्री पत्नी में कहा तो उसके साथ ये भी कहा होगा और उसके बाद एवं मुक्तो कहा ऐसे कहने के बाद मृत्यु जा करके नचिकेत के पास पहुंच करके वाच नतिके नचिकेतसम उपगम्य पूजा पुरसरम नचिकेता के पास गए यमराज है जहाँ से नाम सुनने से लोग डरते हैं उनके दूत इतने समर्थ होने के जम भुवन में प्राणियों को कितनी यातना यातना यातना देते हैं वो सामान्य नहीं है तो उनके घर में कोई ब्राह्मण बालक आया अतिथि मान करके उनके घर में उनके पास उपगम में पास में जाकर के नहीं कि बुलाओ कौन आया ऐसा नहीं उनके पास जा के और जाना कैसे डराने के लिए नहीं हमारा आ जाएगा डर जाएगा भाग जाएगा पूजा पूर्व शरण पूजा पूर्वक नहीं तो हमराज अपने रूप उग्र रूप दिखाएं तो वहीं समाप्त हो जाएगा पूजा पूर्वक नम्रता के साथ गए तीसरो यात्री यदवासी गृह में अनस्नन ब्रह्मन तीर नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रिन वरान वृणिस्व तीसरो रात्रि यदवासी अवासी में गृह मेरे घर में तीन रात मैंने वास किया वसन निवासे लुंग में वासित सकुत हो गया सस्य ससी सार शारद धातु क्या सह शारद धातु के साध्यार धातु से तो हो गया अवासी वासी क्या मैं अनस्नन भोजन नहीं करके वासी क्या हे ब्रह्मन अतिथि नमस्य आप अतिथि है नमस्कार के योग्य है नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन हे ब्रह्मन अस्तते नमस् नमो अस्तु नमस्ते ते का तुभ्यम तुमको नमस्कार है नमस्ते दो पदे नमः ते नमस्ते अस्तु ते नमो अस्तु तुभ्यम आपको नमस्कार है हे ब्राह्मण स्वस्ति में अस्तु कल्याण में रहो नहीं तो इसे या तीन रात एक बार भोजन नहीं करके ब्राह्मण एक ही दिन रह गया तो इतने नष्ट कर देता है तीन रात बिना भोजन करे अब रहे तो मेरे कल्याण हो तस्मात् पति तीन वरान मुनीशो प्रति दिन के प्रति एक एक करके तीन रात के लिए तीन वर वरान करो भाष्य में तीसरी रात्रि यद यद का थे यस्मात् तीसरी रात्रि यद अवासी यद का थे यस्मात् जो क्योंकि आपने तीन रात वास किया उसी तबान वास किया उसी गृह में मेरे घर में मम अनसन नहीं खा के तो हे ब्राह्मण अतिथि सन अतिथि होता हुआ तीन रात भोजन नहीं करके रहा ये तो गृहस्थ के लिए बहुत अनुचित है ऐसे किसी अतिथि को भोजन नहीं देकर रहना एक रात रहना भी कठिन तीन रात का रहा नमस्य नमस्कार अर्हश्च आप नमस्कार के योग्य है तस्मा नमस्ते इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ तो व्यम अस्तु भवतु नमस्कार अस्तु का तो भवतु नमो अस्तु हे ब्राह्मण ब्राह्मण के संबोधन स्वस्ति भद्रम यस्त मेरा कल्याण हो तस्माद भवतो यस्माद हवा यद वासिज जो निवास किया है इसलिए भवतो अनसनेन मद गृहवास निमित्ताद दोषात तत्प्राप्ति उपसमेन भवतो अनसनेन आपका जो अनसन भोजन नहीं करना अनसन करके मद गृहवास निमित्ताद भोजन नहीं करके मेरे घर में रहे भोजन करके आराम से रहे तो कोई आपत्ति नहीं किंतु भोजन नहीं करके मेरे घर में वास किया उसके कारण गृहवास निमित्ता दोषात गृहवास के निमित्त जो दोष है प्रत्यवाय रूप तत्प्राप्ति उपशमेन मेरा कल्याण हो इसके दोष प्राप्ति का उपशम निराश के निराश के द्वारा मेरा कल्याण हो भद्रम स्वस्ति में वस्तु का अर्थ उस प्राप्ति दोष निराश होकर के मेरा कल्याण हो यद्यपि भवत अनुग्रह सर्वम मम स्वस्ति स्याद ऐसे अतिथि के अनुग्रह से ही सब कुछ हो जाएगा ये यमराज कहते हैं नचिकेता बालकों को आपके अनुग्रह से सब हो जाएगा मेरा कल्याण हो जाएगा फिर भी तथापि तो अधिक प्रसादनार्थम अनसनेन उसिताम एकैकाम रात्रिं प्रति त्रीन वरान गुणिस्व अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रातेस्व फिर भी आपके अधिक प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको आपकी प्रसन्नता के लिए अनसनेन उसीताम भोजन के बिना उसीता वास क्या अवस्थित जो एक एक हम रात्रि प्रति एक रात्रि के एक बर करके तीन रात्रि के लिए तीन बरान वणिचो एक एक रात्रि प्रति एक एक करके तीन बर व्रण करो व्रण करने से अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रार्थयस्व जो आप चाहतो अभिप्रतिष्ठ अभिप्रतिष्ठ अर्थ विषय जिसे विशेष विषय जो चाहतो अपनी इच्छा से प्रार्थयस्व मांग ले लो जो चाहो ले लो नचिकेता स्वाह नचिकेता ने कहा शांत संकल्प सुमना यथा स्याद वीतम त्वत् प्रसृष्टम आभिवदेत प्रतीत एतत्रयाणाम प्रथम वरम ऋणे नचिकेता तो कोई सामान्य नहीं है ऐसे श्रद्धा संपन्न पिता को इसे कहा और स्वयं कह करके यमराज के पास पहुंच गया यमराज इसको नमस्कार करते हैं वर देते हैं तीन वर देने के लिए कहा एक वर में इतने मांग लिया <laughs> प्रथम वर में कितने मांग लिया एक साथ बस शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् शांत संकल्प यस्य पिता का संकल्प शांत हो जाए क्योंकि सोचते मैं पिता कि यमराज के पास गया पिता लड़का क्या करेगा क्या हुआ कहाँ गया कहाँ ऐसे संकल्प विकल्प करता होगा किंतु शांत हो जाए सुमना यथा साथ और मन भी प्रसन्न हो जाए वीतमन्यु हो और पुत्र के प्रति क्रोध मेरे प्रति क्रोध था मन्यु क्रोध क्रोध रहित हो जाए हे गौतम मां भी मृत्यु मेरे प्रति क्रोध समाप्त हो जाए अत्वत प्रशिष्ट मां भी वधेत प्रतीत आप जो मुझे भेज दोगे पिता के पास मैं जाऊंगा कि जिसको यमराज नमस्कार करते हैं उसको मारेंगे कैसे तो फिर सम्मान करके भेजेंगे तो आप जो मुझे भेजोगे मां अभी प्रति प्रतीत पहचान करके मुझे मेरे से बात करेंगे नहीं तो सोचेंगे तो मर गया था कहां उसका भूत प्रेत आया डरेंगे भगाओ मां अभिप्रदे बदे प्रतित पहचान करके मेरा पुत्र आया करके मुझे मेरे प्रति मेरे साथ भाषण करे नहीं तो मरने के बाद कोई भी हो तो मर गया तो कहेंगे भूत है मरने के बाद आएगा तो सब डरेंगे जितने प्रिय हो भाई बंधु पिता माता पुत्र माता पुत्र कोई हो मरने के बाद मर गया फिर यदि आए सब डरेंगे भूत आ गया भूत प्रेत आ गया किंतु ऐसे में मुझे प्रतीत जान करके ऐसे बोले एतत्रयाणाम प्रथमम वरम प्रणय त्रयाणाम मध्ये ये कह देता है नहीं तो यमराज सोचे तीनों वर एक साथ मांग लिया इसे कहते त्रयाणाम प्रथम वरम प्रणय ठीक मतलब शांत संकल्प सुमना वीतमन्यु और त्वा तो अभि तत्प्रशिष्टम फिर आप भेजना है फिर ऐसा भाषण करे ये सब मिला पांच छः हो गया उसमें कि त्रयाणाम मध्य प्रथम वर ये मैं मांगता हूँ नचिकेता तो यदि दित्सु वरान दातु मिच्छु दित्सु देना चाहते हो भगवान शान अभी देना चाहते शांत संकल्प उपशांत संकल्प यस्य बहुबरी माम प्रति क्या संकल्प है यमम प्राप्य किम नु करिष्यति मम पुत्र इति ऐसा विचार करता होगा यम के पास जाकर क्या करेगा वो सबको मानने वाला यमराज है तो वहाँ जाकर पहुँचा क्या करेगा क्या जाकर के मरण अभाव के लिए कोई प्रयत्न करेगा या क्या करेगा कुछ करता होगा क्या होगा ऐसे ऐसे सोचता है पुत्र इति सशांत संकल्प ऐसे उपशांत संकल्प समाप्त हो जाए सुमना क्योंकि ये जो संकल्प कल्पना चिंता करते बड़े हानिकारक है पुत्र चला गया चलो को जो होगा ठीक है ईश्वर की इच्छा छोड़ दे ऐसा नहीं विचार करता होगा क्या हो करता क्या करता मोह के कारण इसे विचार करते हैं अपना ही हानि होती है किसी के परिवार संबंधी विचार करते क्या करता क्या करता क्या उसका क्या उसका होगा जो होने वाला वो लिखित है वही होगा कोई टाल नहीं सकता है और उसके विचार करते करते स्वयं अपने समय समाप्त कर देना ऐसे करते हैं सब ज़्यादा लोग क्या होगा क्या होगा क्या होगा उसका क्या होगा अपना क्या होगा विचार देख लो अपना कितने दिन क्या ठिकाना है दूसरे ले उसका क्या बेटा का क्या होगा पोता का क्या होगा उसका क्या होगा ये इसलिए ये भर मांगता है कि संकल्प समाप्त हो जाए संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए तो मन समाप्त होता है मन का स्वरूप है संकल्प आत्मक मन यदि संकल्प विकल्प छोड़ दे तो मन परमात्मा में लग जाएगा वही संकल्प करते क्या होगा आगे क्या होगा क्या होगा यदि निश्चय कर ले प्रारब्ध में जो होने वाला है पहले से निश्चित है वही होगा कोई टाल नहीं सकता है तो फिर क्या होगा क्या होगा जो होगा आपके सामने आएगा कुछ छिपा करके नहीं आपको जो मिलने वाला सुख दुख निंदा स्तुति आपके सामने आएगा और जब आएगा तो देखे ना जो आएगा विचार करने से क्या होगा कुछ नहीं कर सकते हां जहां कर सकते वहां विचार करो जहां कुछ कर सकते अपना चलता है वहां विचार करो कुछ करो जहाँ कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा क्यों विचार करना और पहले कुछ हो गया उसको भी सोचते हैं पहले क्या हो गया उसको सोचते हैं आगे क्या होगा उसको सोचते हैं क्या कर्म कर दिया सत्कर्म बुरा कर्म उसके लिए सोचते हैं ऐसे सोचते सोचते अतीत और भविष्य तो सोचते सोचते वर्तमान समय ऐसे ही चला जाता है इसे शास्त्र में कहा गया जीवन मुक्त का लक्षण में अतीतान अनुसंधानम भविष्यत अभिचारणम औदासीन्यम अपि प्राप्ते जीवन मुक्त से लक्षणम अतीत का अनुसंधान स्मरण करना कोई जरूरत नहीं जो हो गया छोड़ो और भविष्य का तो विचार भविष्य का तो विचार क्या होगा क्या होगा जो होने वाला है पहले से बना करके हे चित्र जैसे सिनेमा आदि में चित्र देखते हैं पहले से बना हुआ सामने आएगा देखना पड़ेगा पहले से निश्चित है वही होगा कुछ नहीं अन्यथा तो भविष्य का तो विचार करना जरूरत नहीं और वर्तमान अवस्था में जो प्राप्त होता है समझ ले कर्म का फल है अब भोगना ही है भोग लो उदासीन होकर के ज्यादा सुख दुख नहीं ये अपने कर्म फल अपने उपार्जन किया अपने उपार्जन किया तो भोग कर लो आनंद से उदासीन में उदासीन होकर के प्राप्त जीवन मुक्त का ये लक्षण है जीवन मुक्त जो होता है ऐसे ही रहता है अतीत सोता नहीं भविष्य तो विचार नहीं करता वर्तमान जो प्राप्त हो सह कर लेता है ये साधकों को अपनाना चाहिए जो जीवन मुक्त का लक्षण है साधक यत्न पूर्वक उसका लाए ऐसे आचरण करे ऐसे रहे तो ज्ञान प्राप्त करेगा ते तो शांत संकल्प सुमना प्रसन्न मनाश्च स्यात् मन प्रसन्न हो यथा स्यात् वीतमनु मन क्रोध विगत रुसच क्रोध रहित हो जाए गौतम पिता का नाम मम पिता मां भी मेरे पति मां प्रति हे मृत्यु संबोधनम मां भी मृत्यु हे मृत्यु संबोधनम किंच तत् प्रसृष्टम त्वया विनिर्मुक्तम प्रेषितम गृहं प्रति आप जो छोड़ दोगे आप विनिर्मुक्तम प्रेषितम मुझे घर को भेज दोगे मां माम अभिवदित प्रतितः लब्ध स्मृति लब्धा स्मृति न स्मरण करके मेरा पुत्र ही आया सैव अयम मम पुत्र आगत ऐसा सोच करके यही मेरा पुत्र आया सोच करके मेरे मुझे मेरे साथ व्यवहार करे वार्तालाप बोले नहीं तो पूछेगा नहीं डर करके भागो भागो भागो। पुत्र मम आगत इतम प्रत्यभिज्ञानन प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा सोई मेरा पुत्र आया तत्तैदंत अवगाय ज्ञान जानते ही मेरा पुत्र आया समझ करके मेरे साथ व्यवहार करे एतत प्रयोजनम एतत् प्रथम वरम ऋणे एतत ये प्रयोजन त्रयाणाम वरना मध्ये प्रथम आद्यम वरम ऋणे प्रथम वर प्रार्थये यत पितुः परितोषणम एक वर कैसे हुआ यही पितुः परितोषणम एक अधिक नहीं है पिता को संतोष करना पिता संतुष्ट हो जाए अर्थात संतुष्ट अभिविशान संकल्प समाप्त हो जाए मन प्रसन्न हो जाए क्रोधि समाप्त हो जाए अब मैं जाने पर मेरे से पहचान करे व्यवहार करे ए पितु परितोषणम एक ही वर हुआ टीका में प्रीति हुतोयम आगतो नचिके नावलोकनीय इति मत्वा उपेक्षाम यथा न करोति तथा प्रसादम करोत्याह यही प्रसाद प्रसन्न होकर ही कीजिए कृपा कीजिए पिता सोचेगा भूत मर गया प्रेत मर गया मरने के बाद आया प्रेत है भूत प्रेत आया तो डर जाते हैं न अवलोकनीय इसको देखना नहीं चाहिए प्रेत है प्रेतात्मा हो गया तो नहीं उसको व्यवहार में नहीं देखना चाहिए इति मान करके उपेक्षा में यथा न करे जैसे मेरी उपेक्षा नहीं करे नहीं तो मेरे ओर देखेगा ही नहीं प्रेत आया करके ऐसे प्रकार कृपा कीजिए तत्प्रसृष्ट माभिमदेत प्रतीत तत मृत्युर्वाच उसके बाद मृत्यु ने उत्तर दिया तुरंत जो वर मांगने के लिए कहा मांगती तुरंत देना होता है तथास्तु बस ले दे दिया यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत निर्मत प्रसृष्ट सुखम रात्रि सहिता वितमन्युस् त्वाम ददृशिवान मृत्युमुखात् प्रमुखतम यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत जैसे पहले तुम्हारे प्रति पिता की बुद्धि थी स्नेहता ऐसे तो भवित ऐसे होगा पिता तुम्हारे प्रति तुमको पहचान करके औदालकी उदालक के पुत्र उदालकी अरुणी अरुण का पुत्र मत प्रशिष्ट में जब तुमको भेज दूंगा ये भी कहते हैं मैं छोड़ दूंगा जाओगे भेज दूंगा तो तुमके जैसे पिता पहले व्यवहार करता था स्नेह से ऐसे तुमको पहचान कर व्यवहार करेगा सुखम रात्रि सहित अभी तमन्यु हो और सुखम रात्रि सहित आगे सोएगा सहिता सुख से भी तो मैंने कहा तो क्रोध रहित होकर के आगे सोएगा मतलब अभी सुख से सोया पहले भी आगे भी सुख से रहेगा जब जब तो हम ददृश्यमान तुमको देख करके मृत्यु मुखात प्रमुखता मृत्यु मुख से प्रमुखता दे करके क्रोध रहित होकर के ऐसे प्रसन्न होकर के इसे तुम्हारे प्रति स्नेह रहेगा मृत्यु मृत्यु यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्ताद पुरम यथा पुरस्ताद भविता ऐसे हो गया जैसे तुम्हारे प्रति बुद्धि पिता की थी पुरस्ताद पुरम आसित जैसे था स्नेह समन्विता स्नेह से युक्त बुद्धि स्नेह तुम्हारे प्रति था पितुस्तव ऐसे ही होगी बुद्धि भविता प्रीत समन्वित तव पिता प्रीत से युक्त तुम्हारे पिता होंगे तथैव प्रतीत प्रतीतवान सन ऐसे ही पहचान करके ये प्रेत नहीं ऐसे देख करके प्रसन्न हो गया औदालकी उद्दालक एव औदालकी उद्दालक एवं सार्थ में अत करे औदालिक बनाया टीका में औदालक रीति तद्धित सार्थे व्याख्यात औदालिक उद्दालक नाम है उद्दालक को औदालिकी कह दिया पिता का नाम नचिकेता के पिता किंतु अपत्यार्थ व्याख्या इत्याह तस्यापत्यम अतय प्रत्यय होता है उदाल का सपत्यम अवदाल की होनी चाहिए तो उदाल की उदाल के उस अर्थ में क्या अपत्यार्थ व्याख्यान करने के लिए इत्या द्व्यामस्यायन वा उदाल के व उदाल की अरुण से अपत्यम अरुणी अरुण का पुत्र होने से अरुणी हुआ उद्दालक उसका नाम औदालक भी उसका नाम हुआ उद्दालक ही औदालकी अरुण का पुत्र अरुणी हुआ अरुण का पुत्र होने से अरुणी उद्दला उदालक पुत्र औदाल की बनेगा तो दो हो गए पिता पिता एक अरुण एक उदालक इसे दो पिता आरुणी पहले अर्थ क्या अरुण का पुत्र है रुदालक है औदालकी अथवा द्व्यामुष्यायन वा दो उसके पिता दो पिता कैसे होंगे द्व्यामुष्यायन वा इसलिए टीका में दिया अमुष्यस्य अपत्यम आमुष्यायनम अमुष्य अमुष्य का तो अमुक का अमुष्य अपत्यम प्रख्यातस्य अपत्यम अमुष्यायन टिप्पणी में हो गया सूत्र अमुष्य सूत्र है अमुष्यायण अमुष्य पुत्रिका अमुष्य कुलिका इति च ऐसे है षष्ठी का अलुक हो गया षष्ट्या अलुक षष्ठ्या म नहीं षष्ट्या अलुक नडादि फक अपत्यर्थ फक होकर के षष्ठी का अलुक अमुष्य को अमुष्यरा पक आयन हो गया अमुस आयन बन गया से अमुक विख्यात का पुत्र तो अमुक पुत्र के अर्थ में व्याख्यान किया तो दो है अरुण का भी पुत्र है और अमुक का पुत्र दूसरे का दो प्रख्यात का पुत्र द्वयो हो पित्रो पूर्व भाषादिना संबंधी च असो च दो पिता के संबंधी द्वय पुत्र दो पुत्र के पूर्व द्वय पुत्र पूर्व भाषणादिना टिप्पणी में दिया पूर्वम एकस्मै कन्या प्रदान भाषित्वा कारण विशेष पदा अन्यस्मै प्रदाने संभवति कोई वर पिता माता कन्या प्रदान करने के लिए किसको देने के लिए सब कुछ निश्चय हो गया फिर किस कारण उसको नहीं देकर अन्य को दिया ऐसा भी हो सकता है अथवा कोई पुत्र किसका है और दूसरे लेकर उसको पालन कर रखता है वो भी पिता होता है जैसे भगवान श्री कृष्ण यशोदा ने पालन किया इसी प्रकार दो पिता हो हैं एक जन्मदाता और एक पालन करता है इस संबंधी असो आमस्यानश्च न जारज ये नहीं कि जारज जार है उपपति पति तो पुरुष उसके संबंध से हुआ ऐसे अर्थ नहीं है दो पिता एक जन्मदाता जनक एक पालन करता है अतः दोनों के साथ इसी प्रकार पिता माता के मन में था उसको देने के लिए अन्य को दे दिया ये दो ये सबसे अच्छा है एक जनक एक पालन करता है तो अरुणा अरुणी अथवा उदा अरुण है उदाल को उसका नाम अरुण का पुत्र अरुण बन गया औदाल के सभी हो सकता है तो ये औदाल के अरुणी मत प्रशिष्ट आगे भाष्य में मत प्रशिष्ट मया अनुज्ञात मैं भेज दूंगा सूर्य की छोड़ूंगा तो छोड़ूंगा कैसे अनुज्ञात अनुग्रह संपन्न अनुग्रह से होकर युक्त होकर जब जाओगे इतरा भी रात्रि आगे भी रात्रि सुख से सोएगा सहिता आगे इतरा भी रात्रि कौन से क्या अभी तक जो रात्रि सुख से सोया है और आगे भी सुख से सोएगा इतरा भी रात्रि टिप्पणी में दिया हो चार नंबर में इतरा भी कौन से अनन पूर्वापि तीसरी रात्रि मद अनुग्रह सुखमेव सहित इसे सूचित कर देते महाराज मेरे अनुग्रह से अभी भी तीन जितने दिन सोया तीन रात्रि सुख से सोया तुम्हारा पिता आगे भी सुख से सोएगा तीसरा फिर रात्रि सहिता आगे सोएगा सुखम प्रसन्न मन प्रसन्न मन हो से प्रसन्न मन होकर सुख से सोएगा सहिता सप्ता सोएगा लूट लकार में आगे सुख से सोएगा और अर्थात अभी तीन रात भी सुख से सोया हुए वितमन्यु विकतमनुष्य क्रोध रहित होकर के भविता तुम्हारे प्रति तुम जाने पर क्रोध नहीं रहेगा त्वाम पुत्रम ददृशिवान दृष्टवान तुमको देखने पर क्रोध रहित होकर के मृत्यु मुखात मृत्यु गोचरात प्रमुखतम संतम मृत्यु के विषय से मुक्त होने पर तुमको देख करके क्रोध रहित होकर के प्रसन्न होकर के तुमको देखेगा सब वर दे दिया स्वर्ग साधनम अग्नि ज्ञानम प्रष्टुम स्वर्ग स्वरूपम तावदाह टीका में ये तो पिता के संबंध से एक प्रश्न हो गया दूसरा है स्वर्ग साधन अग्नि ज्ञान अग्नि का अग्नि कर्म करने पर स्वर्ग प्राप्ति होती है तो स्वर्ग साधन अग्नि ज्ञान पूछने के लिए पहले स्वर्ग स्वरूप कहता है स्वर्गे लोके नचिकेता वाच स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति न तत्रत्वं न जरया विभेति वे तीर्थवासनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स्वर्गलोके न भय किंचन कोई भय नहीं है स्वर्गलोक में रोग आदि के कारण भय नहीं है न तत्र तम यहाँ जैसे यमराज से डरते हैं वहाँ स्वर्ग में ऐसे आप जल्दी नहीं पहुँचते हो न तत्व न जरा विभेति जरा से कोई भय नहीं करता है मृत्यु से भय नहीं करता है उभय तीर्थ असनाया पिपासे आसनाय और पिपासा क्षित पिपासा दोनों को पार कर लेता है स्वर्ग में रहता है शोकातिगो शोक को अतिक्रम करके स्वर्गलोक के मोदते स्वर्गलोक में प्रसन्न होकर रहते हैं रहता है इसे लोक का स्वरूप का स्वर्गे लोके भाष्य में रोगादि निमितम भय किंचन किंचित अपि नास्ति रोग आदि चोर आदि किस निमित्त से कोई भय नहीं है न च तत्र त्वं हे मृत्यु सहसा प्रभवति प्रवसि न च तत्र त्वं यहाँ जैसे बार-बार आकर के जिसको ले लेते हैं जन्म हुआ थोड़ी समय मर गया यहाँ जैसे आप मृत्य में स्वर्ग में ऐसा नहीं सहसा न प्रवसि आवा सहसा शीघ्र उपस्थित होकर किसको नहीं लेते हो तो जरा युक्त यह लोकवत तत्व न विभेति यहाँ से जरा वसा युक्त होते डरते हैं यहाँ यहाँ वैसा नहीं जरा अवस्था को प्राप्त नहीं करते स्वर्ग में तो हमेशा ही त्रिदशा कहा गया तीस साल उम्र तीस वर्ष उम्र में जैसे ऐसे ही हमेशा रहता है आरंभ से अंत तक बूढ़ा नहीं होता है तीस साल अवस्था में हमेशा यहाँ थोड़ा तीस साल में जितने बल है और दस बीस साल के बाद थोड़ा झुक जाता है आंख कान दांत सब जवाब देते हैं सतर्क कराते हैं अभी समय सावधान हो जाओ भगवान कहते इतने दिन चला गया कुछ नहीं किया दांत बोलती है अभी देखो अभी समय हो गया दांत एक गिरने लगे आंख से दिखना कम हो गया कान में सुनना कम हो गया अरे पेट में दर्द है चलने में दर्द है बैठने में दर्द है सब प्रकार डॉक्टर कहेगा चीनी नहीं खाओ घी नहीं खाओ नमक नहीं खाओ सब ये सब है सब प्रकार भय है जरा अवस्था होने पर मृत्यु भय है और स्वर्ग में जो रहते हैं हमेशा तीस साल में ना दांत गिरने का भय ना देखना कुछ नहीं बद्र नहीं स्वस्थ अवस्था में रहेंगे यह त्रिदशा कहा गया स्व जरा आदि रोग निमित्त भय कुछ नहीं न से तुम सहसा प्रभु अतो जरया युत यहाँ जैसे लोग डरते तुमसे वहाँ कोई डरता नहीं किंच उभे असनया क्षेत्र पिपा पिपासा को तीर करके अतिक्रमे करा अतिक्रमण अप्राप्य च्युत पिपासा नहीं उनको भूख प्यास नहीं स्वर्ग में रहने पर और जो भूत प्रेत बनते हैं हमेशा च्युत पिपासा भूख प्यास बहुत है भूत प्रेत प्रेत योनि में जो जाते हैं उनके मुख बहुत सुई जैसे सूक्ष्म है भोजन कोई अशुचि अपवित्र रखा है झूठा रखा है अपने देवताओं के लिए रखा है तो भूत प्रेत वहां पहुंचेंगे नहीं जो देवता ग्रहण नहीं करेंगे उसमें भूत प्रेत का अधिकार है कुछ भोजन ढाक करके रखना चाहिए खुला रखेंगे तो भूत प्रेत का अधिकार दूध दधि आदि को ढाक करके रखना चाहिए खुला नहीं रखना चाहिए कुछ भोजन में सा नियम है उसमें ढाकना चाहिए यदि खुला रख दिया देवता उसको ग्रहण नहीं करेंगे क्यों खुला रखेंगे तो कोई कीड़े आदि गिरने का भय वो आपको पता नहीं चला किन देवताओं को पता है इसे शास्त्र में निषिद्ध है खुला नहीं रखना चाहिए भोजन खुला रख दिया बहुत समय तो देवता लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे जहाँ देवता लोग को ग्रहण नहीं करेंगे निश्चय हो गया वहाँ भूत प्रेत का अधिकार है वहाँ तो अधिकार है उनको अन्न तो सब ग्रहण करना चाहिए किंतु मुख सुई जैसे छिद्र छिद्र जैसे आपको दिया जाएगा बहुत सर्वत और सुई जैसे सिरिंज जैसे इंजेक्शन देते ना ऐसे पाई भी देंगे खींच कर लो खींचते खींचते इतने बहुत खींचने के बाद इतने जाएगा खींचते खींच जाओ तो इतना आएगा तो वो खा पेट भरता नहीं उनका खा नहीं पाते भोजन तो उनके प्यास इधर इधर उधर भोजन देखते हैं किंतु खा नहीं पाएंगे इसलिए भूख प्यास युक्त रहते हैं अक्षुत पिपासा निवृत्त नहीं उनसे ये भात दाल खा कर पेट भरता नहीं इसलिए किसके शरीर में प्रविष्ट होकर के खून चूसते रक्त क्योंकि वो रक्त लेंगे तो थोड़ा जाने पर उसमें रह जाते हैं खा जो मनुष्य खाद्य खा करके रक्त बनता है उसको रक्त को पी लेते हैं भोजन नहीं कर पाते हैं ये भूत प्रेत भूख प्यास हमेशा रहते हैं इसलिए एक दुख भोगने के लिए योनि है किंतु स्वर्ग में चित्त पे बसा ही नहीं अतिक्रम क्या तो अप्राप्य प्राप्त नहीं करके शोकम अतित्य गच्छति ते शोकाधिक शोक रहित होकर के रहते मानसेन दुखेन च वर्जित मानस दुख भी नहीं मोदते स्वर्गलोके हर्ष हर्ष को प्राप्त करता है स्वर्गलोक में दिव्य लोक में ये लोक से भिन्न शोक शब्दार्थ में हाँ, मानस मानसेन और बाह्य निमित्त दुख नहीं है मानस दुख भी नहीं मानसेन दुखेन च वर्जित च दिया है तो बाह्य दुख भी नहीं है एक कर प्रसन्न होकर रहते हैं ओम सहनावतु